हूँ पर वो हिली भी नहीं आके साथ मेरे डांस करे चिगी विगी बोली करना चाहती ग्राइंड देती किसी भी नहीं बम बम लगे करती वो डिगी डिगी oh my god she so तिकी तिकी दिल लेगी ऐसी मौत कभी मिलती नहीं ढूंढा बहुत काफी हॉट लगी डिपी डिपी जब करी बात की चलेगी मेरे नाल कहती हम्म ये भी क्या बात है हाय ना मैं बता दे मेरी जानो कहती हम्म, ये भी कोई बात है वैसे हजार बातें करे दिन रात ये भी क्या बात है हाय ना मैं बता दे मेरी जानो कह दी ये भी कोई बात है मैं जब भी आके उस बेबी सी हूँ मैं साउथ दिल्ली की वीगन वाली डाइट आलमंड वाला घी मेरा मन जो करेगा ना मैं वही करूँगी ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी अबे जानती नहीं तू हूँ मैं बहुत बड़ा जी हैवी ड्राइवर आते ही सबकी मौज करा दी करे बाउंस पूरा दिल्ली करे बॉप ची खुला ची मेरा नाम हूँ मैं बहुत तरह मियाओ लूंगा तुझको संभाल तू गिरेगी नहीं बुक करूँ फाइव स्टार तू चलेगी नहीं बातचीत होगी और कुछ करेंगे नहीं करते होंगे पर तेरे कभी गिनेंगे नहीं बताते क्यों नहीं एक अच्छा दिखा तुम्हारा फटावा क्या चाहिए बेबी देगी मरने भी नहीं देगी जीने भी नहीं जानता हूँ प्यार प्यार में तू गिरेगी नहीं बट जब भी आके उससे पूछूं ये सवालों कहती हम्म ये भी क्या बात है हाय ना मैं बता दे मेरी जानो कह दी हम्म ये भी कोई बात है वैसे हजार बातें करे दिन रातों बता दे मेरी जानो कह दी हम्म ये भी कोई बात है मैं जब भी आके उससे पूछूं ये सवालों कैंदी आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है तो इसने तो लॉक ही कर दिया शिट क्या हुआ तू छोटी है तो हील्स में दिला दूंगा तू नली है तो तुझको निहारूंगा मगर पापा की परी ना कभी पालूंगा मैं उड़ा दूंगा तुझे प्लीज बिलीव ये बेबी सोना जानू मुझसे ना होगा अगर पीनी तुझे दारू तो पिला दूंगा तू देगी जो पर रोज के मैं खा लूंगा और नहीं काटूंगा यो इशारे दे हजार पर कहेगी नहीं तेरी बस्ती तेरी भाव तू देने की नहीं अखियों से देगी मार कभी सेकेगी नहीं दिल की बातें साफ साफ कभी कहने की नहीं बताते क्यों नहीं क्या चाहिए बेबी देगी मरने भी नहीं देगी जीने भी नहीं जानता हूँ प्यार प्यार में तू गिरेगी नहीं बट जब भी आके उससे पूछूं ये सवालों कहती कहती हम्म अबे यार हर बात पे हूँ कहती है अरे तो ठीक है ना ठीक ठीक ठीक कहा ठीक कहा ठीक कहा ठीक कहा ठीक ठीक कहा कैंडी हम्म ओ कैंडी